और ये कुफार मक्का उस बस्ती से होकर गुजरते रहे हैं जिस पर बुरी तरह पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी भला क्या ये उस बस्ती को देखते नहीं रहे फिर भी उन्हें इबरत नहीं हुई बल्कि उनके दिल में दूसरी जिंदगी का अंदेशा तक पैदा नहीं हुआ